हित हमार पति सेवकाए सो हरिलीन मातु कुटिलाए मैं अनुमान देख मन माहे आन उपाय मोरहित नाही शोक समाज राजु के खे लखन राम सिय बिनु पद देखे बादी बसन बिनु भूषण भारो बादी बिरत बिनु ब्रह्म विचारू मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है इसका क्या मूल्य है जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है सरज शरीर बाद बहु भोगा हरि भगत जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाय बादी मोह गुरु सब बिनु रघुराई जाऊ राम पहे आय सुदे हो एक आक मोरहित ये हो मोहिनी पकड़ी भल आपन चहू सौ सने है जड़ ताबस रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं कई कई सुव मते राम विमुख गतलाज तुम चाहत सुख मोह बस मोहिसे अधम के राज कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं कहूँ साचु सब सुने पतिया हो चाहे अधर्म नर सीलनर देह मोहिरा रसा रसातर रसारसा तबहि मोहि समान को पाप निवासो देह लग राम बनवासु राय राम कहु कानन दीना बिछुरत गमनु अमरपुर की नाम मैं सत्य कहता हूँ आप सब सुनकर विश्वास करें धर्मशील को ही राजा होना चाहिए आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे क्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया मैं सठ सब अन रथ कर हे तू बैठ बात सब सुनौ सचेतु बलु रघुबीर बलोकि अबासु ने प्रण सह जग उपहसु रस रूखे लोलू के भूखे कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाए निदरी कुली सुजही लहे बड़ाए और तो मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है कारण ते कारज कठिन ओ हि दोष नहीं मोर कुल कुलसयस्थिते उपलते लोह कराल कठोर कारण से कार्य कठिन होता है उसमें मेरा दोष नहीं हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है